बाब नंबर एक रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से जनूब की जानी भागती जा रही थी उसके पहियों की गड़गड़ाहट से दूसरे डब्बों में कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी मगर इस एयर कंडीशन डब्बे में शोर दबा दबा था जैसे ऊपर गिलाफ चढ़ा हो मेजर सरफराज अपनी गद्देदार सीट पे दराज हाथ सर की पुश्त पे बांधे खुली खुली आंखों से आसमान को तक रहा था गोया किसी ध्यान में हो दरअसल उसका जहन यकसर खाली था कोई आध घंटा पहले दोपहर के खाने से फारिग होकर वो अखबार देखने लगा था कि घाड़ी के दचकों ने हिलकोरों का काम किया और वो ऊँग गया था कुछ देर बाद गाड़ी की चाल ने दोबारा दचकों की सूरत इख्तियार कर ली तो सरफराज नींद से बेदार हो गया अब वो ठहरी ठहरी बेख्याल नज़रें खिड़की के शीशे पर जमाए लेटा था उस बदन में पट्ठे अपने अज़ा के अंदर अभी सुकून की हालत में सोए पड़े थे अपनी मुख्तसर ऊँग के दौरान उसने जो मतद ख्वाब देखे थे उनकी झलकियाँ बिन बुलाए वक्फे वक्फे पर उसके दिमाग में आगे पीछे नाचती हुई गुजर रही थी झलकियों के इस जुलूस में उसका अपना कोई दखल ना था जिस तरह ख्वाब उसके इख्तियार में ना थे उसी तरह उनकी टुकड़े टुकड़े होकर उड़ती हुई मध्यम सी याद भी उसके काबू से बाहर थी इस बात से उसके दिल को एक अजीब सी बेसकूनी का एहसास हो रहा था यह बात सरफराज के मिजाज के कतन बरक्स थी कि कोई शय उसके जब से बाहर हो आठ नौ बरस की सख्त फौजी ट्रेनिंग ने एक अठारह उन्नीस साल खाम नौजवान को लेकर एक ऐसे सत्ताईस साल पुख्ता और बालिग मर्द की शक्ल में ढाल दिया था जिसके लिए ये अमर अहम हो चुका था कि उसके रोज़मर्रा के तमाम अंदरूनी और बैरूनी अनासर उसके दायरा इख्तियार के अंदर हों अहदे का मौजू इस्तेमाल अफसर की मुकम्मल अतात और मातहत पर गिरफ्त खुश इखलाकी रास्त गोई साफ बीनी उसूल परस्ती क़वत फ़ैसला गर्ज ये के सरफराज की शख्सियत की तमाम तर तहजीब का दारोमदार इस खुद नज़मी पे था जिसके ज़रिए वो खुद अपने ऊपर ही नहीं बल्कि दूसरों पर भी नज़म आयद करने का अहल था पेशे की रूह से वो हकीकत की दुनिया में रहता था और अशिया के ठोस वजूद से ही दुनिया का तयन करने का आदि हो चुका था यहाँ तक कि बिन बुलाए ख्याल और एहसास भी उसके जब्त नफ्स में रखना अंदाज होते थे ख्वाब बहर सूरत उसके कब्ज़े में ना थे जागते ख्वाबों को मनज़म करने की इस्तात उसमें थी सोते ख्वाब उसके काबू से बाहर थे इस वक्त रेलगाड़ी की सीट पर लेटे लेटे उन ख्वाबों की झलकियों को जब्त में लाने की आखिरी कोशिश करते हुए सरफराज ने जहन को सिर्फ एक शक्ल पर मरकूज करने की सही की ये शक्ल नसरीन की थी नसरीन जिसने उसका जब्त पारा पारा करके रख दिया था सरफराज अपने गांव में दो रोज़ की एमरजेंसी छुट्टी गुजार कर वापस अपनी यूनिट को हैदराबाद लौट रहा था इन दो दिनों में उसकी दुनिया ऊपर की नीचे हो चुकी थी आखिर वो नसरीन की सूरत को सामने लाने में कामयाब हो गया मुकाम शहर के सबसे बड़े बाग का एक कोना था तुम्हें इतनी दूर से आने के लिए जल्दी जल्दी छुट्टी कैसे मिल जाती है हमारे हाथ का कमाल है मेरी खातिर आते हो हाँ जब मैंने पहले रोज़ देखा था तो समझी थी तुम बेवकूफ़ फौजी हो हमने तुम्हारी जान बचाई थी इसलिए मैंने लिफ्ट के लिए पूछा तो तुम खाम खा दूसरी तरफ से उतर कर बाहर खड़े हो गए थे लिफ्ट देने से पहले तुम्हारा जायज़ा ना लेता तुम्हारे जैसे दहशत गर्द दुनिया में थोड़े हैं मैंने कहा था मेरा नाम नसरीन है तो अपना तारुफ कराने की बजाय गवारों की तरह मेरा मुंह देखते रहे थे नाम बताने का होश किसे था मैं तो तुम्हारा मुंह चूमना चाहता था ये तुमसे किसने कहा कि मुंह चूमने के लिए होशो हवास की ज़रूरत नहीं होती कोई अजब नहीं कि उस वक्त मुंह चूम भी लेता वाह तुम्हारा अंदाज ही ऐसा था कैसा अंदाज था सीने पे बाजू बांध रखे थे और हाथ कंधों के साथ सिए हुए थे जैसे कभी जुदा ना होंगे ज़रा जुर्रत करते तो देखते क्या होता हाथ तुम्हारे मुंह के साथ सी देती हा हा हा हा हा उस वक्त चूम लेता तो आज इतनी मुसीबत तो ना करनी पड़ती तुम्हें अपने जोरे बाजू पे बड़ा नाज है और क्या ये देखो हाथ लगा के देखो मसल है मसल अरे वाह बेईमान क्या हुआ मसल ढीले पड़ गए चिड़ी जितनी तुम्हारी जान है और चुटकी ऐसी काटती हो जैसे चूहे का दांत हो मेरी उंगली में चूहे का दांत है तहरो तो मैं ठीक करता हूँ अरे अरे अरे रुको मत करो सिरी खुदा के लिए देखो लोग आवाज़ सुन लेंगे सुन लेंगे तो सुनते रहें तुम्हें पता है लोगों का अब तो कानून बन गए हैं लोगों को और भी शय मिल गई है कानून हमारे लिए नहीं है और किसके लिए हैं मोहब्बत करने वालों के लिए कोई कानून नहीं होता हाय मोहब्बत का नाम भी जनाब को आ गया है अभी कानून सर पे आ चढ़ेगा तो पता चलेगा इधर देखो बताओ ये क्या है तुम्हारी तस्वीर है वर्दी में जोकर लग रहे हो नहीं जनाब ये मेरा आईडी है इसकी एक झलक ही कानून वालों के लिए काफ़ी है ये तो हमें पता ही है शेखियाँ क्यों बगाड़ते हो अरे रे रे क्या कर रहे हो मत करो सरफराज मैं चीखने लगूंगी तो तुम्हारी आईडी धरी रह जाएगी ठहरो ठहरो सुनो शेर की आवाज़ गुर्र चुप रहो यार क्या बिल्ली की तरह गुर कर रहे हो ये शेर की आवाज़ है गुर्र सुनो जब मैं छोटी सी थी तो यहाँ शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनकर खौफ से कांपने लगती थी फिर भी ये आवाज़ सुनने के लिए यहाँ आने की ज़िद करती थी अजीब बात है ना तुम्हारी हर एक बात अजीब है पर सिली सरफराज शेर की आवाज़ में एक अजीबो गरीब इसरार है चौंका देने वाली आवाज़ तो गधे की हैंक भी होती है और हाथी की चिंगाड़ में भी मगर गरज किसी और में नहीं होती तुमने मेरी गरज नहीं सुनी शायद तुम्हारी आवाज़ में भी हो मगर छोटी सी असली नहीं होगी गुर्र सुनो जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा खौफ जाता रहा सिर्फ इस आवाज़ की कशिश बाकी रह गई अब मेरा जी चाहता है इसे पकड़ लूँ शेर को नहीं उसकी गरज को जी चाहता है उसे पकड़कर बंद कर लूँ गरज को कैसे पकड़ सकती हो क्यों ये जो हर रोज गाने सुनते रहे हो ये कहाँ से आते हैं वो वो तो टेप पर होते हैं हा हा हा हा ही ही ना करो तुम्हें तो दुरुस्त करता हूँ अरे अरे अरे मत करो सीरी होश की दवा करो जब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो मस्ती करने पर आ जाते हो जाहिल आदमी अरे ओ आहो हूँ हम्म। ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा वो सब उसकी याद से मादूम हो चुके थे मगर पहला नसरीन के लबों का वो अवलिन लम्स सरफराज के होंठों पे ताज़ा खिले फूलों की मानंद कायम था आज भी गोबिज में कई माँ का अरसा पड़ता था उस बोसे की खुशबू जिल पे उसकी झुरझुराहट रीढ़ की हड्डी में उसकी सरसराहट मौजूद थी जैसे कि वो एक बोसा उसके बदन पर सर से पांव तक रिंगता हुआ चल रहा हो ज़बान की नोक पर उसका जायका हलक के अंदर उसका लुआब और शेर की जानब घुर्रा कर उन नाजुक पसलियों को दबोच लेने की लज्जत आज भी उस एक शफाक लम्हे की याद उसके दिल को बेचैन करती थी नसरीन के साथ उसकी पहली मुलाकात हिंदुस्तान की कैद से लौटने पर सरफराज की दो माह की छुट्टी के आखिरी दिन थे उसका दोस्त कैप्टन जमाल जिसकी यूनिट शहर में तैनात थी और सरफराज जमाल की जीप में सवार शहर की मरकजी सड़क पर जा रहे थे एक मुजाहरे के बीच फंस गए वो आराम से जीप दौड़ाए जा रहे थे कि अचानक उनका सामना एक जिम गफीर से हुआ जो सड़क के आर पार दूर दूर तक फैला हुआ था कई हज़ार का मजमा था अनोखी बात यह थी कि यह मजमा तमाम तर औरतों पर मुश्तमिल था बूढ़ी जवान उधेड़ उमर औरतें चादरें उड़े बुरका पोश शलवार कमीज पहने साड़ियाँ लपेटे अमीर औरतें गरीब औरतें हर नौ की औरत इस हजूम में शामिल थी चंद एक के हाथों में झंडे थे इन झंडों के आसपास औरतों के ग्रोह तंग तंग दायरों में गोया दरिया के अंदर मेहराब की मानंद गोल गोल चक्कर लगाते हुए नारे लगा रहे थे नारे लगाने वालों में ज़्यादातर जवान औरतें थीं पक्की उम्र की औरतें गो तमाशाइयों की मानंद खड़ी चेहरे उठाए सिरों के ऊपर ऊपर देख रही थी मगर जाहिर था कि जलूस में उनकी हैसियत बराबर के शरीक किसी थी सड़क पे उस हजूम का बंद बंदा था आगे निकलने का कोई रास्ता ना था जमाल ने ठिटक कर जीप रोक ली दोनों अचंबे की हालत में जीप के अंदर बैठे अपने सामने ये रेल पेल देखने लगे औरतों का इतना बड़ा मजमा यूं खुले बंदो दन दनाता हुआ उन्होंने पहले कभी ना देखा था हैरत उनको इस बात पे हो रही थी कि सड़क का मोड़ मुड़ने तक इस जुलूस के कोई आसार दिखाई ना दिए थे रस्ते में पुलिस के सिपाहियों की तादाद रोज़मर्रा से कुछ ज़्यादा थी एक आध फौजी गाड़ी भी देखने में आई थी मगर ये तो शहर का मामूल हो चुका था इसके अलावा कोई शोरोगुल भाग दौड़ या तमाशाइयों का गोल देखने में नहीं आया था फरवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था मगर धूप की रंगत बदलना शुरू हो गई थी आसमान के सब्जी माइल नीले रंग में हल्की सी पिलाहट आ चुकी थी हवा बंद थी और दरख्तों के जामद पत्ते धात से ढले हुए मालूम होते थे चंद लम्हे पेशतर तक सरफराज और जमाल के दिल के अंदर सिर्फ एक ही ख्याल था कि कैसे वो जल्द से जल्द जमाल के मैस में पहुंचे और वहाँ आरामदेह सोफ़ों पर बैठकर गरम गरम कॉफ़ी का ऑर्डर दें और अपने हम पेशा अफराद के बारे में ताज़ा तरीन खबरों का तबादला करे मगर जूँ ही जमाल सड़क का मोड़ मुड़ा सामने ये इज्तम नज़र आया जो सारा ट्रैफिक रोके खड़ा था जीप के रुकने पर इंजन का शोर कुछ कम हुआ तो उनके कान में नारों की आवाज़ बढ़ी हर तरफ सर ही सर नज़र आ रहे थे सरों के ऊपर नारे बुलंद करने वालियों की दस दस बीस बीस बाहें बार बार गिर और उठ रही थीं जुलूस के गिरदा गिर्द पुलिस के सिपाहियों का घेरा था जिनके हाथों में लाठियां पकड़ी थीं उनके अफसरों की दो जीपें भी सड़क के किनारे रुकी नजर आ रही थीं एक पुलिस का खुला ट्रक सड़क छोड़कर फुटपाथ पर चढ़ा खड़ा था जिसके अकबी हिस्से में बेंच नुमा सीटों पर एक दर्जन राइफल बरादर सिपाही बैठे थे जमाल और सरफराज की जीप के आगे कई कारें वैगने रिक्शे और ट्रक रुके हुए थे जिनमें से कई एक आदतन हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे थे सरफराज और जमाल ने एक साथ अपने स्याह चश्मे उतारे और धूप की चमक के सामने आंखें सुकेड़ कर इस मंज़र को देखने लगे अचंबे के आलम में सरफराज के होंठों के बीच से हल्की सी सीटी निकली जैसे के कह रहा हो भाई वाह देखो ये क्या हो रहा है चंद ही मिनट के अंदर उनके पीछे भी गाड़ियों की कितारें लग गईं ना आगे जाने का रास्ता रहा ना पीछे यकायक मजमे में भगदड़ मच गई अनगिना सिरों की लहरें जो किसी सता दरिया के मानंद खम खा खा के अंदर ही अंदर बह रही थी एकदम टूट फूट गई जैसे किनारों से टकराकर हवा में कतरा कतरा हो गई हूँ सरों के ऊपर उठे हुए झंडे गिरकर हजूम में गायब हो गए नारों की जगह औरतों की तेज़ चीखें और खौफजदा बारीक आवाज़ें फिजा में बुलंद होने लगीं बुरका पोशों ने नकाब उठा दिए और जब एक दूसरे से टकरा कर ठोकर खाकर गिरी तो नकाब उतर कर गायब हो गए दुपट्टे और चादरें सरों से घसीटी गईं हर जानब नंगे सर नजर आने लगे सामने दो औरतें एक ही दुबट्टे को अपनी अपनी जानब खींच रही थी कपड़ों बाजुओं और चोटियों की रस्सा रस्साकशी जारी थी और इस चीना झपटी के दौरान चीखों पुकार का तूफान मचा हुआ था ओ माई गॉड जमाल के मुंह से निकला पुलिस एक्शन दोनों ने मजमे के अकब से सरों के ऊपर लाठियां उठती और गिरती और फिर उठती हुई देखी औरतों का एक गोल गिरता पड़ता और भागता हुआ कारों और वैगनों की जाने बढ़ा और उनके बीचों बीच पेच दर पेच लड़खड़ाने लगा एक चालीस साल भारी भरकम औरत जिसे दौड़ का एक कदम उठाए गालिबन बीस बरस होने को आए थे भद्दे तरीके से भागती हुई उनके पास से गुजरी हाय जालिमो हाय जालिमो वो रोती हुई पुकारती जा रही थी जैसे मातम कर रही हो उस औरत के पीछे अचानक एक नौजवान लड़की नमोदार हुई वो नंगे सर थी उसके बाल शानों तक कटे हुए थे जो इकट्ठे करके पीछे रबड़ के धागे से बांधे गए थे उसके माथे पे एक मामूली सा जख्म था जिससे खून रिस रहा था उसने हल्की स्वेटर पहन रखी थी ओढ़नी की गैर मौजूदगी में उसने दोनों बाजू सीने पर कैंची की शक्ल में बांध रखे थे और हाथों से दोनों शानों को पकड़े थी जैसे कि अपने आप को छुपाना और साथ ही साथ थाम कर रखना चाहती हो फौजी जीप को देखकर लड़की चंद कदम के फासले पर रुक गई कई लम्हों तक वो जीप के शीशे में से जमाल को टिकटिकी बांधे देखती रही उसकी निगाहें बेखौफ थीं फिर वो आगे बढ़ी और गाड़ी के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई उसके आसपास औरतें रोती चीखती हुई भागी जा रही थीं लड़की ने जीप का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ना कुछ बोली बस चुपकी खड़ी रही उसके नाजुक जिस्म के बावजूद उसके अंदाज में दहशत के कोई आसार ना थे जमाल ने दरवाज़ा खोला और चेहरा उठाकर सवालिया नज़रों से लड़की को देखा प्लीज़ वो बोली आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं लड़की के हलक से निकलती कदरे भारी गहरी और पुरसकून आवाज़ सुनकर जमाल और सरफराज को कुछ हैरत सी हुई आपके लिए लड़की फिर बोली यहाँ से निकलना आसान होगा उसका लहजा ना तहक माना था ना आजिजाना मगर साफ स्पाट भी ना था उसके अंदर ऐसा कोई अनजाना अंदाज था कि जमाल और सरफराज दोनों बिला तामुल अपनी अपनी सीट से उठकर जीप के बाहर खड़े हो गए पुलिस का एक सिपाही जो बेदिली से दो औरतों का पीछा कर रहा था फौजी गाड़ी को देखकर ठटका और फौरन पलटकर दूसरी जानब को रवाना हो गया जैसे अपनी ड्यूटी अदा कर चुका हो जमाल ने अगली सीट उल्टा कर पीछे निकलने का रास्ता बनाया लड़की बाजू अपनी जगह से हिलाए बगैर झुककर अंदर दाखिल हुई और इसी तरह पिछली सीट पर जा बैठी जमाल ने आगे पीछे नज़र दौड़ाकर ट्रैफिक का जायज़ा लिया हाथ उठाकर पिछली दो चार गाड़ियों को रास्ता छोड़ने का इशारा किया और दिल में गाड़ी निकालने का कोई रास्ता बनाया वह झुककर अंदर बैठने ही वाला था कि एक उम्र रसीदा देहाती औरत इस भाग दौड़ के दरमियान कमज़ोर चाल से चलती हुई आकर जमाल के सामने रुक गई उसने कमर में तहमत बांध रखा था और गले में स्या मलमल का खुला कुर्ता पहना हुआ था उसका सर मुख्तसर सी दस्तरखान नुमा चादर से ढका हुआ था औरत ने जीप के बोनट पर हाथ रखकर जिसम को सहारा दिया और मुंह उठाकर चंद लम्हे खामोशी से जमाल को देखती रही उसके चेहरे पर लजाजत फैली थी और अंदाज से जाहिर था कि मदद की तलबगार है जब उसने मुंह खोला तो उसका लहजा उसी तरह मस्किन था मगर अल्फाज कतई मुख्तलिफ थे पुत्र ताड़ियाँ मावा ने तानू दूध नहीं बख्शना जमाल उसकी बात सुनकर ऐसा ठटका कि खाली खाली नज़रों से बूढ़ी औरत को देखता रहा जैसे कि उसकी ज़बान गंग हो गई हो औरत ने जीप से हाथ उठाया और आहिस्ता से जहाँ खड़ी थी वहीं पर बैठ गई ज़मीन पर बैठकर उसने अपना सर दोनों हाथों में लिया कोहनिया घुटनों पर टिकाईं और चुपके चुपके रोने लगी जमाल अपनी जगह पे खड़ा हैरत से उसे देखता रहा फिर उसने जल्दी से सरफराज पे एक नज़र डाली और झुककर जीप में बैठ गया सरफराज ने अपनी सीट पे बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया जमाल ने आगे सड़क पर नजर दौड़ाई तो रास्ता कुछ साफ होता नजर आया देहाती औरत जीप के पहिए के साथ लगकर बैठी थी जमाल ने एहतियात से स्टेरिंग घुमाकर गाड़ी आगे बढ़ाई अभी वो चंद ही गज गया होगा कि पिछली सीट से फिर वही गहरी हैरतनाक आवाज़ आई हरामजादों ने मेरा दुपट्टा फाड़ दिया है जमाल और सरफराज अभी देहाती औरत के वार से संभल ले ना पाए थे लड़की की बात ने उनमें गैर मामूली रद्दमल पैदा किया जमाल ने एक्सीटर पर पाँव मारा हॉर्न पे हाथ रखकर दबाया और देर तक दबाए रखा शोर मचाती जीप ने एक मुख्तर सा तेज़ फराटा भरा और अपने आगे गाड़ियों सिपाहियों और भागती हुई औरतों को बिखेरती रास्ता चीरती हुई निकलने लगी उस लम्हे सरफराज ने झटके से मुंह मोड़कर पीछे देखा उसके दिल में हैरत और नामालूम से गुस्से के मिले जुले जज्बात थे बाजुओं से सीना ढके और हाथों से कंधों को थामे हुए लड़की उसी सूरत में पिछली सीट पर बैठी थी उसकी हड्डी पतली और जिसम इंतहाई दुबला था उसका वज़न बामुश्किल एक मन का होगा मगर उसके लहजे की मानंद उसके सर और चेहरे से बदन की नज़ाकत का कोई निशान ना मिलता था उसका माथा चौड़ा रंग साफ बड़ी बड़ी पुरमाद आंखें और नाक नक्शा मौजू था उसके माथे की खराश पे जमता हुआ खून बेअसल सा दिखाई दे रहा था ठहरिए ठहरिए वो जल्दी से बोली ज़रा एक मिनट रुकिए प्लीज़ मेरी किताबें एकदम ब्रेक लगने से जीप एक धचके के साथ रुक गई सड़क पर सैकड़ों छोटी बड़ी अशिया के अलावा कई किताबें कॉपियाँ पेन और पेंसिलें बिखरी पड़ी थी अब यहाँ पे जलूस की इक्का दुक्का औरत रह गई थी जो बुखलाई हुई बेसिमत इधर उधर फिर रही थी ज़्यादा तादाद पुलिस के सिपाहियों की थी जो दो दो चार चार की टोलियां बनाए अपनी लाठियों के सहारे खड़े थे सरफराज अपनी सीट पर बैठा रहा जमाल दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और अपनी सीट ओंधी करके दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार करने लगा लड़की झुककर दरवाजे से बाहर निकली अब सरफराज की नज़रों में तहयर ही तहयर था पिछले चार पाँच मिनट के दौरान जब से उन्होंने लड़की को पहली बार देखा था उसके बाजू अपनी जगह ना हिले थे जीप में दाखिल होते हुए सीट पर बैठते हुए बात करते हुए और अब झुककर बाहर निकलते हुए उसने हाथ से ना माथे के जख्म को छुआ था ना किसी शय का सहारा लिया था अब जबकि वो सड़क पर चल फिर कर गिरी पड़ी किताबों और कापियों को झुक झुक कर देख रही थी तो भी उसके हाथ शानों को गिरफ्त में लिए हुए थे यूं मालूम होता था कि गोया पैदा ही इसी अंदाज में हुई हो उसी सूरत में वो सड़क से पलट आई जमाल के करीब आकर उसने नफ़ी में सर हिलाया एक बार फिर वो किसी चीज़ को छुए बगैर झुके झुके उस तंग से रास्ते से दाखिल होकर पिछली सीट पे जा बैठी नहर को पार करके बाएं को हो लें तो आपकी मेहरबानी वो बोली मुझे कैंट जाना है मैं आपको कैंट में ही अपने हस्पताल लिए चलता हूँ जमाल ने जवाब दिया आपके ज़ख्म को दिखा लें जी कोई बात नहीं लड़की ने कहा मामूली सी खराश है सरफराज ने गैर इरादी तौर पर मुड़कर उसे देखा मगर लड़की ने ना हाथ उठाकर माथे को छुआ ना ही खून के बारीक कतरों को पहुंचने की कोशिश की किसी ना किसी को तो दिखाना ही होगा आपको जमाल ने कहा यहाँ ज़रा अच्छी तरह से ड्रेसिंग वगैरह हो जाएगी जल्द फारिग हो जाएंगे फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा लड़की एक मिनट तक खामोश रही सरफराज ने तीसरी बार पीछे मुड़कर देखा लड़की ने अपने सर को ज़रा सा मोड़कर पहली बार सीधा सरफराज की आंखों में देखा चलिए आप कहते हैं तो चले चले वो नज़रें हटाए बगैर बोली शुक्रिया सरफराज को लगा जैसे वो उसको देख नहीं रही बल्कि उसकी आंखों में झांक रही है मेरा नाम नसरीन है वो आंख झपके बगैर बोली सरफराज की ज़बान को गोया ताला लग चुका था उसने महसूस किया कि वो अपनी नज़र की तार तोड़ने से कासिर था मेरा नाम जमाल है जमाल ने जीप चलाते हुए जवाबन कहा ये कैप्टन सरफराज हैं जी नसरीन बोली सरफराज यकदम गहरा झिप गया दोबारा मुड़कर बैठने में उसकी तमाम तर कुत इरादे सर्फ हो गई ये मुझे क्या हो गया था उसने दिल में सोचा बाद में जब भी कभी उसने इस बारे में सोचा उसका जहन इस एक लम्हे में ही जाकर अटकता था ये वो लम्हा था जब उसे अचानक बगैर सोचे समझे और ख्याल किए हुए उस अनजानी लड़की से मोहब्बत हो गई थी खिड़की के शफाफ शीशे की चौकट से सरफराज को सिर्फ आसमान नज़र आ रहा था जिस पे उस वक्त दोपहर की तपी हुई सफ़ेदी कुछ मान पड़ रही थी और नीलाहट उसकी जगह उभरती आ रही थी अपनी सीट पे लेटे लेटे आसमान पे नज़र जमाए हुए उसके दिल में फिर उसी नामालूम सी बेचैनी ने सर उठाया ख्वाबों की बेकाबू झलकियाँ उसके ख्यालात को बिखेरने पे मिसर थीं रेलगाड़ी वाज तौर पर हरकत में थी पहियों की गड़गड़ाहट और डब्बे की हलचल इस बात की गवाह थी कि गाड़ी कई मील फी घंटा की रफ्तार से हैदराबाद की जानब रवा थी मगर खिड़की में आसमान का चौकटा कतई साकिन और बेहरकत था कभी कभार कोई परिंदा ऊंची परवाज करता हुआ इस चौकटे को काटता तो रेल की हरकत का सबूत मिलता मगर कई मिनट गुजर चुके थे और कोई परिंदा नजर न आया था साकी तो जामिद आसमान सरफराज को इस हरकत से जिसे वो अपने बदन में महसूस कर रहा था अलग रखे हुए था कुछ देर के बाद वो घबरा कर उठ बैठा जैसे ही उसकी नज़र ज़मीन पे पड़ी उसे महसूस हुआ गोया उसका तवाजन बहाल हो गया है भूरे रंग की रेतली ज़मीन और उस पर उगे हुए मटियाले दरख्त पस्त कद झाड़ आमों के गहरे अंधेरे वाले स्याही माइल सब्ज बाग गंदे पानी के जोहड़ उनके अंदर नहाती हुई भैंसें और उनके किनारे जली हुई जिल्दों वाले बच्चे कहीं कहीं चटील मैदानों से उठते हुए गर्द के बगोले और सूरज की आग के आगे मुंह सर ढके पग डंडियों पर चलते हुए इक्का दुक्का मुसाफिर फराटे भरते हुए पीछे की जानब उड़े जा रहे थे उन्हें देखते देखते सरफराज का दो लख्त जहन यकचा होने लगा चंद ही मिनट के अंदर उसके दिल की बेचैनी कम हो गई आध घंटे की हिलकोरे लेती हुई नींद और ख्वाबों की बेलगाम झलकियों ने उसके फहम और बदन के दरमियान जो दरार डाल दी थी ज़मीन की रफ्तार ने उसे भर दिया था वो दोबारा हाथ सर की पुश्त पे बांध कर सीधा सीट पर लेट गया ज़मीन एक बार फिर उसकी नज़र से गायब हो गई मगर आसमान का जामे टुकड़ा अब उसकी परेशानी का बायस ना बन रहा था सिर्फ एक मक्खी डब्बे में कहीं से दाखिल हो गई थी जो शीशे को आज़ादी का रास्ता समझकर बार बार उसके साथ सर पटक रही थी डब्बे की बाकी तीन सीटें खाली थीं सरफराज के अलावा तीन आदमी एक सौदागर कुर्ते के नीचे फूली हुई जेबों वाली वास्कट एक ज़मींदार सफ़ेद कमीज़ शलवार काली ऐनक लबों से तराशी हुई नाक पर चढ़ी हुई मूछें और एक गालिबन सिविल का अफसर पुरतमाद चाल मोटे गाल जर्दी माइल जल्द चश्मा जो सरफराज के साथ ही सवार हुए थे बीच के स्टेशनों पर उतर चुके थे फिर एक अगले स्टेशन से एक पीर साहब और उनके दो जवान बेटे डब्बे में सवार हुए पीर साहब और उनका बड़ा बेटा प्लेटफॉर्म पर अपने बीसीओ पैरोकारों में घिरे खड़े बातचीत करते रहे थत्ता के गार्ड ने सीटी दे दी फिर मुरीदों ने झुक झुक कर पीर साहब के हाथ चूम चूम कर और घुटने छू छू कर उन्हें रुखसत किया सरफराज अपनी जगह पर लेटा खांचे वालों और अखबार रसाले बेचने वालों को आते जाते और परेशान मुसाफिरों को दौड़ भाग करते हुए देखता रहा इस सारे मंजर के आगे इकलौती मक्खी शीशे पर अपना सर पटकती रही इस मक्खी को देख कर सरफराज के दिल में हल्की सी बेइतमनानी और साथ ही साथ हल्की सी दिल जमई का एहसास उभरा उसने दोबारा अपने ख्याल का रुख मोड़ने की कोशिश की हैंड्स ऑफ बाद में उस रोज़ सरफराज ने जमाल से कहा था कुछ शर्म करो जमाल ने जवाब दिया था नेवर माइंड तूने कोई पेशकदमी की तो फिर खैर नहीं all right all right Jamal ने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए जवाब दिया मैं दस्तबरदार होता हूँ गुड सरफराज ने हवा में मुक्का चलाते हुए कहा इस तरह गोया उसने मोहर की शक्ल में नसरीन पर अपना हक साबित कर दिया था भिन भिन भिन भिन भिन मक्खी अब सरफराज के सर के गिर्द भिन भिना रही थी पहले उसका सर और मुंह मक्खी के वार से बचने के लिए इधर से उधर झटक रहा था उसके बाद हाथ और बाजू मक्खी को भगाने और फिर उसे पकड़ने के लिए हवा में छोटे छोटे चक्कर खाने लगे आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे बदन में मुकीद एक एक पट्ठा नींद से जाग उठा जब वो स्कूल में पढ़ता था तो एक ही वार में मक्खी को अपनी मुट्ठी में काबू कर लिया करता था मगर अब ये गुर उसके हाथ से निकल चुका था सरफराज ने अखबार को दोहरा किया और गोल लपेट कर उसका डंडा बना लिया अब वो मक्खी पर चपटने के लिए कमरे के वस्त में खड़ा था पीर साहब चादर ताने गहरी नींद सो रहे थे उनके मुहिब खराटों की आवाज़ चादर के अंदर से बरामद हो रही थी मक्खी ने उस सफ़ेद चादर को गोया अपनी सरजमीन बना लिया था वो फुदक कर उड़ती हवा में दो चार कलांचे भरती ऐसी बर्क रफ्तारी से कमरे के कोने कोने में फिरती के नज़रों से गायब हो जाती फिर चश्मे जदन में पलट कर पीर साहब की चादर पर आ बैठती मक्खी की हर उड़ान के दौरान सरफराज के हाथ में पकड़ा हुआ अखबार का डंडा मक्खी के ताकुब में उल्टी सीधी बेतरतीब और बेतवाजुन हरकत करता फ़ज़ा को दाएं और बाएं ऊपर और नीचे काटता फिर यकदम हवा में उठा उठा रुक जाता जबकि मक्खी आराम से चादर पे बैठी रहती इसी तरह हवा में शमशीर जनी करते हुए उसने ऊपर नज़र उठाई तो बड़ा बेटा लेटा लेटा आंखें खोले उसे देख रहा था उस वक्त सरफराज की हालत ये थी कि वो अखबार का डंडा हाथ में उठाए सोए हुए पीर साहब के ऊपर झुका हुआ था गोया उन पर वार करने वाला हो एक मक्खी वो झिप कर बोला देर से तंग कर रही है पीर साहब के बेटे ने मशकूक नज़रों से सरफराज को देखा फिर करवट बदल ली सरफराज ने दांत पीसकर पीर साहब की चादर के ऊपर ऊपर तलवार चलाई अब मक्खी खिड़की के शीशे से सर पटक रही थी सरफराज की आंखों में एक ऐसे शिकारी की सी चमक पैदा हुई जिसने शिकार की बू सूंघ ली हो मक्खी ने एक बार फिर अपने आप को उस शफाफ अनदेखी दीवार में कैद कर लिया था वो बेमालूम पर्दा जिसके आर पार मक्खी की आंख देख सकती थी मक्खी को अंधा कर चुका था सरफराज के अंदर बदमनी की जो दीवार खड़ी थी वो भी शीशे की मानन बेदाग और बेमालूम थी उसने सरफराज की बिनाई को मादूम कर रखा था कई सेकंड तक वो अकड़ा हुआ चौकस बदल लिए बेहरकत खड़ा निशाना बांधता रहा जैसे वो मक्खी नहीं बल्कि इस दीवार को जो पिछले 24 घंटे में उसके अंदर खड़ी हो चुकी थी मुनहदिम करना चाहता हो आखिर उसने झपट कर एक ज़ोरदार वार से मक्खी को जा लिया पटाखेदार आवाज़ बुलंद होने से पीर साहब चौंक कर जाग उठे उन्होंने चादर हटाकर सुर्ख सुर्ख आंखों से सरफराज को देखा सरफराज उनसे बेखबर खड़ा मक्खी को देख रहा था जो अब नीचे फर्श पर एक स्याह धब्बे की मानंद दिखाई दे रही थी मुड़ने से पहले सरफराज ने अपना पैर उस पर रखा और बदन का पूरा बोझ उस पर डालकर जूते के तले से मक्खी को मसल कर रख दिया फिर वो अपनी सीट पर जा बैठा अब वो उस बेनिशान शीशे के वजूद से बेखबर बाहर ज़मीन को देख रहा था जहाँ धूप में नुचड़े हुए खेत और फसलें और मवेशी और किसान उल्टे पांव भागते चले जा रहे थे वक्त के वजूद से बेखबर सरफराज का ध्यान भी पीछे की जानब भागता हुआ दूर तक निकल गया धूप एक बरसा बरस पुरानी धूप थी जिसकी शक्ल भी यही थी मगर असलियत मुख्तलिफ थी पुरानी धूप की आंख में जादू था उस कदीम धूप की उम्र तीस साल की थी उसके बदन में जो तनाव और सतह पे जो चकाचौन थी वो आज की इस ताज़ा धूप में मफतूद थी सर्दियों की उस धूप के अंदर गांव के बाहर मैदान में रीछ और जादू का खेल हो रहा था सारे गांव के बच्चे कुछ औरतें और चंद जवान और बूढ़े मर्द दायरे बनाए बैठे हुए थे दायरे के अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ जितना काला रीछ अपनी नकेल की रस्सी के आगे सर झुकाए थूतनी जमीन पर रखे लेटा था काली दाढ़ी वाला फकीर रीछ को नचाने से पहले कटोरे के जादू का खेल दिखा रहा था पहले उसने ज़मीन के एक हमवार हिस्से पर कपड़ा फेर कर उसे साफ किया उसके बाद अपने थैले से एक छोटी सी रंग बिरंगी गेंद निकाली और उंगली और अंगूठे में उठाकर चारों तरफ लोगों को दिखाई फिर गेंद को ज़मीन पर रखा और तेज़ी से एक सिल्वर का कटोरा ऊपर ओंधा करके गेंद को ढांप दिया अब उसने नकेल की रस्सी खींचकर रीछ को उठाया और अपनी जगह से हिले बगैर रस्सी की मदद से रीछ को मैदान के चक्कर लगवाए इस दौरान वो रस्सी को हाथ पर लपेट कर उसके तूल को कम करता गया हती के रीछ का दायरा कटोरे के हल्के तक महदूद होकर रह गया अंतर जंतर पार कलंदर बच्चा जमूरा बोल एक मंतर फकीर ने तान लगाई चल बेटा चल मेहरबानों को जादू का खेल दिखा उसने नकेल को तुनक दी तो सदे हुए रीछ ने अपनी थूतनी औंधे कटोरे से लगा दी एक मिनट तक वो उसी तरह थूतनी को कटोरे पर रखे खड़ा रहा फिर फकीर ने नकेल खींची तो रीछ सर उठाकर दोबारा कटोरे के गिर्द चक्कर लगाने लगा बुजुर्गों नंबरदारों बीबियों और बचूंगड़ों दुनिया में मेरा ना माई बाप ना बीबी ना औलाद बस ये एक बेज़ुबान जानवर मेरा बच्चा मेहरबानो इस बच्चे के मुंह में ज़ुबान नहीं मगर इसका पेट करतब से है भरा हुआ मेरे भाइयों देखो हमारी तुम्हारी आंख के सामने हमारी तुम्हारी नज़र को मात देकर ये बच्चा गेंद उड़ाकर अपने देश को चला गया है ए भाइयों और बहनों होश से देखो और इस बच्चे के जादू की गवाही अपनी आंख से तलब करो ये कहकर फकीर ने जो कटोरा ज़मीन से उठाया तो नीचे कुछ भी ना था गेंद गायब हो चुकी थी और ज़मीन खाली पड़ी थी फकीर ने कटोरा हाथ में उठाया और एक लोहे के चमचे से टन टन बजाते हुए घूम घूम कर लोगों को दिखाने लगा कटोरा खाली का खाली था बच्चे तो बच्चे बड़े लोग हक्का बक्का रह गए कटोरा बजाते बजाते यका यक फिर फकीर ने एक कलांच भरी और झुककर रीछ की पिछली टांगों के बीच हाथ मारा जब उसने हाथ बाहर निकाला तो एक उंगली और अंगूठे के दरमियान वही गेंद पकड़ी हुई थी फ़कीर ने एक नारा लगाया और लोगों के हल्के की हद के साथ साथ घूमते हुए गेंद एक एक की आंखों के सामने लाकर दिखाई चल बच्चे चल फ़कीर अब हाथ सर से ऊपर ले जाकर नकेल की रस्सी को तुनके मारने लगा नाच दिखा दे दरिया दिलों को हाथ फैला दे सखियों के आगे रिस की मालिक अल्लाह की ज़ात चल बचूंगड़े चल रीछ अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर अगली टांगों के पंजे हवा में ढीले छोड़े भोंडे अंदाज में हिलने लगा उस वक्त तीन साल बच्चे ने उस धूप में रीछ की नाव से नीचे लटकते हुए काले बालों के अंदर उसके आलात तनासुल देखे जो उसके बदन की हरकत के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता थिरक रहे थे बच्चे के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि वो जगह जहाँ गोल गोल चीज़ें उछल रही थी बच्चे का जादू का बटवा था जिसमें उसने गेंदे छुपा रखी थी इस ख्याल ने पल भर के लिए बच्चे के दिल पर ऐसा कब्जा जमाया कि उसे अपने आप का होश न रहा चमकती हुई धूप में रीछ चक्कर लगाता हुआ अब उसके ऐन सामने खड़ा था धूप उसके काले बालों से फिसलती हुई नीचे सारी ज़मीन को लपेट में लिए हुए थी बच्चा एक एक बाल को उसकी बारीक काली आंखों उसकी थूतनी उसके लटके हुए अगले पंजों उसकी नाफ और उसके बटवे को अलग अलग देख सकता था और उस दरिंदे की तेज़ अजनबी बू को सूंघ रहा था उसको महसूस हुआ कि वो और रीच दोनों तने तनहा उस सफ़ेद धूप के जाल में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और उनके सिवा कोई बंदा बशर उस मैदान में मौजूद नहीं है बच्चे ने बे इख्तियार कदम आगे बढ़ाया और हाथ से रीछ के बटवे को छू लिया अपनी नन्ही उंगलियों पे जंगली जानवर के खुरदरे बालों की रगड़ को उसने कुर्ब की इस शिद्दत से महसूस किया कि एक लम्हे का वो लम्स उम्र भर के लिए उसके हवास पे मोहर हो गया सारे मजमे में से एक मुख्तसर हुक नुमा आवाज़ बुलंद हुई और फिर यकदम खामोशी हो गई उस खामोशी के अंदर रीछ ने एक झुरझुरी ली और उसके बदन से एक खौफनाक टूटी फूटी गुर्राती हुई आवाज़ निकली यकायक बच्चे का शहर टूट गया उसने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए और चीख चीख कर रोने लगा उसके दिल पे अब खौफ का साया अंधेरा किए हुए था उसकी आंखें मिची थीं और उसे कुछ सुझाई ना दे रहा था ताहम इस दहशत के अंदर कहीं उसका एक एहसास मौजूद था कि एक हाथ लपक कर उसे उठा लेगा और उसको डर से दूर ले जाएगा अट्ठारह साल एजाज ने लपक कर अपने तीन साल भाई सरफराज को गोद में उठा लिया उसने बच्चे का चेहरा अपने सीने में छुपाकर उसका सर कंधे से लगा लिया और होले होले उसकी पीठ थपकने लगा थोड़ी ही देर में बच्चे की चीखें रुक गईं उसके आंसू थम चुके थे मगर उसने अपनी आंखें ना खोली और ना ही सर उठाकर देखा उस चौड़े सीने में मुंह छुपाकर बच्चे के दिल को आराम आने लगा था वो हमेशा हमेशा के लिए उस सीने से चिमट कर सोया रहना चाहता था तीन साल एहसास में बस इतनी सी पहचान थी कि उन बड़े बड़े बाजुओं उस सीने और उस चेहरे की हिफाजत में डर दूर हो जाता था बचपन से लेकर जवान होने तक और उस वक्त तक भी जब वो कदो कामत में अपने भाई से सर निकाल चुका था और रुतबे में उससे आगे बढ़ गया था उसके दिल में हमेशा हमेशा ये इतमान बख्श एहसास कायम रहा कि उसके भाई के हाथ उसकी पीठ के पीछे थपकी देने को मौजूद थे मगर अब दुनिया बदल चुकी थी पिछले दो दिन के अंदर वो सीना सरफराज से छिन गया था रेलगाड़ी के डब्बे में बैठे बैठे अब तहफ़ का वो एहसास सरफराज के दिल में एक अटल अदम मौजूदगी की शक्ल इख्तियार कर चुका था अब वो इस सूरत से दो चार था कि किस तरह वो अपने भाई के ख्याल को जहन से रफा करे एजाज का चेहरा था कि एक जिद की मानंद उसकी याद में आए चला जाता था हेजान की हालत में आखिर अपनी कुत इरादी को बरुए कर ला कर एक बार फिर उसने नसरीन को याद करने की कोशिश की जैसे कि वो उस जहर का त्रियाक हो जो सरफराज के अंदर फैलता जा रहा था तुम्हें सर्दियों में भी पसीना आता है खुले मुसामों वाला आदमी हूँ तुम्हारी तरह लिपटा लिपटाया थोड़ा रहता हूँ ये देखो हाय कितने बाल हैं तुम्हारी छाती पे रीछ की तरह स्याह काले पीठ तक जा पहुंचते हैं जिल तक दिखाई नहीं देती किसी जानवर की नस्ल से हो इसीलिए तो तुम्हें पसंद हूँ हटो परे तुम शेर की आवाज़ पे खिंची जाती थी कि नहीं वो तो शेर था शेर जानवर नहीं होता शेर तो शेर होता है उसकी छाती पे भी बाल होते हैं हा हा हा हा हा हंसने की क्या बात है तुमने शेर देखा ही नहीं बंगाल में रहकर आया हूँ देखा कैसे नहीं ऊट पटांग मार रहे हो तुम कोई जियोलॉजिस्ट हो शेर की छाती पे बाल होते हैं मैं इसकी गवाही देता हूँ ये तुम्हारी मर्दों वाली शेखियाँ हैं हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं कैसे नहीं है शेर देखा होता तो ऐसी डींग ना मारते चलो तुम बताओ क्या बताऊँ शेर की छाती पे बाल नहीं होते हम्म शेर के बदन पे बारीक पशम उगी होती है ऐसी कि बस जिल्द की जिल्द ही लगती है और बब्बर शेर की सिर्फ गर्दन पर बाल होते हैं फिर असल शेर की छाती पे बाल हुए ना गर्दन गर्दन होती है बेवकूफ़ छाती नहीं होती शेरों की छातियों पे तो रेशम मुंडा होता है आए क्या छातियाँ होती हैं रेशम की जेल के अंदर पट्टे गुथल मुथल करते हैं जैसे तुम्हारी छाती में करते हैं शर्म करो कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो ऐसी बातों पे उतर आते हो कैसी बातों पे उतर आता हूँ ये देखो गुथल मुथल सिरी हाथ मत चलाओ तुम्हें बहुत आज़ादी मिल गई है मैं शर्त से कहता हूँ कि तुम्हारी छाती पे भी बाल हैं अरे जाओ नहीं तो दिखाओ शर्त हार जाओगे क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो शर्त जीतना नहीं चाहती अच्छा बोलो क्या शर्त लगाते हो जो भी चाहो ये क्या बात हुई सारी दुनिया मांगूँ तो मिल जाएगी जितनी दुनिया मेरे हाथ में है दे दूंगा हाँ हाँ ये खूब रही क्यों तुम्हारे हाथ में है कितनी दुनिया जान तो है जान दे दोगे हाँ फिर बड़े हाँकने लगे शर्त पूरी करके देख लो तुम्हें पता है ये शर्त पूरी नहीं करूँगी हार गई वाह जी खुद ही वकील और खुद ही जज हाँ हाँ तुम्हें मुहावरे भी ठीक से नहीं आते तुम्हें जो आते हैं बातें करने में बड़े शेर हो वैसे भी शेर हूँ तो मैं खुद शर्त जीत कर दिखाता हूँ कैसे आंखें बंद करो लो अरे हटो सिरी मत मत करो शर्म करो देखो मैं शोर मचा दूंगी अच्छा रुको ठहरो मेरे हाथ छोड़ दो ये लो देख लिया वाह एक बटन से क्या होता है गर्दन भी पूरी नज़र नहीं आ रही बस अब शर्त पूरी हो गई कहाँ पूरी हुई चारों बटन खोलो तो होगी जी नहीं आप शर्त अपने पास रखिए सरफराज इन हरकतों से बाज आओ वरना वरना क्या चीख मारकर लोगों को इकट्ठा कर लूँगी तुम्हारी कैप्टनी धरी की धरी रह जाएगी चलो ये भी करके देख लो अच्छा हटो हाथ हटाओ बाज आओ एक मिनट के लिए बाज आओ ना ये लो देखो साफ जल्द है कोई बाल नहीं गर्दन के गड़े तक साफ हैं आगे चलो जी माफ़ करो आगे भी साफ है अच्छा आंखें बंद करो जी नहीं मैं अब तुम्हारी चालों में नहीं आने वाली ये देख लो मेरा हाथ देख रही हो हाँ पता है इसका मतलब क्या है नहीं इस तरह हाथ उठाकर कसम खाते हैं फिर कसम खाता हूँ हाथ नहीं चलाऊँगा तुम्हारी कसम का क्या एतबार मैं फ़ौज का अफसर हूँ ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन हम लोग कसम की खातिर जान दे देते हैं अच्छा लोग बस एक सेकंड से क्या होता है अरे क्या अंधों की तरह आंखें मीच कर बैठ जाऊं दस सेकंड तक दस सेकंड दस तक गिनो फिर आंखें खोल दो अच्छा एक दो तीन चार पाँच छ हम्म, मेरी सांस खुदा के लिए मेरी सांस बंद हो रही है हटो क्या बेहुदा आदमी हो ये कीमत है तुम्हारी कसम की हाथ तो नहीं चलाया और ये क्या किया है होंठ चलाए हैं कसम तो नहीं टूटी आ गई ना चाल में इसे कहते हैं टैक्टिस मक्कार अब कसम ख़त्म हो गई अब मैं हाथ चलाऊंगा चुपकी बैठी रहो हाय सिरी अब मुझ में हिम्मत नहीं हिलो मत हाय मैं मरी ये देखो बाल ये एक बाल है एन छाती के ऊपर खींच कर तोड़ दूँ ओह हाय जालिम दर्द करते हो बड़ा प्यारा बाल है कैसी नाजुक जगह पे उगा है ये तो होंठ से तोड़ने के लायक है हाय हाय सिरी मेरी जान गई लबों पे तल्ख मुस्कुराहट लिए हुए बदन को गाड़ी के हलकोरों के सपुर्द किए सरफराज आहिस्ता आहिस्ता नींद की गहराइयों में उतर गया ख्वाबों का नुक्ता आगाज उसके तयन में ना था गो नींद टूटने पे उसे महसूस हुआ कि जैसे आंख लगते ही ख्वाबों की यलगार शुरू हो गई हो उनके अख्ताम से फरार नामुमकिन था एक बदसूरत सा आदमी छांटा ऊपर उठाए उसके सर पे खड़ा था और सरफराज घोड़े की मानंद तांगे के आगे जुता उसे खींचता जा रहा था ये आखिरी ख्वाब था जिसके धक्के से चौंक कर वो जाग उठा था उसे याद आया कि पहले एक तोता था जिसने टैं टैं करते हुए यकायक अपनी सूरत बदलकर छांटा बरदार कोचवान की शक्ल इख्तियार कर ली थी उस काली दाढ़ी वाले कोचवान की शक्ल खौफनाक थी उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो सरफराज को तांगे के आगे हाँक रहा था सरफराज घोड़े की जगह पे जुता तेजी से पाँव चलाता जा रहा था मगर उसके पैरों तले जमीन खुदकार हरकत से पीछे ही पीछे को सिरकती जाती थी जिसकी वजह से रास्ता एक इंच भी तय नहीं हो पाता था वो लाख कोशिश करता कि तेज भागे मगर जमीन की पट्टी भी उल्टे पाँव तेज तर होती जा रही थी और इस दहशत के मारे कि वो अपने मुकाम से आगे बढ़ नहीं पा रहा उसका दिल कुचला जा रहा था और सांस बंद हुई जाती थी जैसे कि कोचवान की मुट्ठी में छांटा नहीं बल्कि सरफराज का दिल हो जिसे वो अपनी मुश्त में बींच बींच कर मसल रहा हो इसी बेदम हालत में जबकि उसकी सांस सीने के अंदर एक हूक की मानंद उठ रही थी सरफराज की नींद टूट गई आंखें बंद किए हुए नीम होश बदन को सीट पर संभाले वो ख्वाब के होके में उसी तरह लेटा रहा लहजा लहजा पूरे होश में सर निकालते हुए उसके दिल को ये जानकर बे इंतहा तमानियत का एहसास हुआ कि उसने जो देखा वो असलियत नहीं थी और हकीकत हाल यूं थी कि वो मेजर सरफराज एयर कंडीशन कमरे के अंदर आराम से नरम सीट पर लेटा रेल का सफ़र कर रहा था जिसके आखिर में उसके इस्तकबाल के लिए उसका उर्दली जीप लिए स्टेशन पर मौजूद था इस ख्याल का सहारा कुछ इस तरह से उसके एहसास में दाखिल हुआ जैसे उसके जिस्म में दोबारा जान पड़ गई हो उसने आंखें खोल दी दिन ख़त्म हो चुका था गाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी थी स्याह आसमान के नीचे बिजली की रोशनियों में मुसाफिरों और फेरी वालों के साए खिड़की के बाहर मुहर्रिक थे ख्वाबों के बच्चे ख्वाबों के बच्चे कुचे नज़ारे अभी तक सरफराज के जहन से लिपटे थे उसने एक नज़र खिड़की पर डालकर आंखें मींच ली ख्वाब नाकबिल एतबार थे उसने सोचा खा मैं घोड़ा बन जाऊं, घोड़ा हाथी बन जाए हाथी आदमी की आवाज़ में मुखातिब हो आदमी से बच्चे की आवाज़ निकले और फिर बच्चा औरत का रूप धार ले बरसों के मरे हुए ज़िंदा होकर बोलने लगें किसी बात पे किसी वाक्य पर फहम बदगुमान ना होता हर हाल और हर भेस को बेचू चरा तस्लीम कर लेता था बच्चे और जवान में तीस साल का अरसा हो या बीस बरस का ख्वाब इस तनाज़े से बालातर थे बच्चा और जवान मर्द और औरत जिंदा और मुर्दा सब एक दूसरे में मदगम एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद होते थे अपना अपना कारो कसब अपने अपने ज़माने लिए एक दूसरे के ज़मानों के अंदर बाहर दन दनाते फिरते थे ख्वाबों का अपना एक अलग फहम था सिर्फ होशमंदी भरोसे के लायक थी और आदमी के जहन की यादाश्त उसके लंगर का काम देती थी जिस मकाम पे याद का लंगर डाल दिया जाता उसी नुक्ते पे हाल का ज़माना थम जाता और गुज़रे हुए वक्त का लम्हा लम्हा अपनी असल खसलत लिए गिरफ्त में आ जाता था जिसके नक्शो निगार महीनों और बरसों की धुन में मध्यम ना पड़ते थे कोई अचंबा कोई इसरार इनके नाक नक्शे पे शुबे का साया ना डाल सकता था नसरीन की आवाज़ तक अपने होठों की खमदार तरंग लिए कानों में गूंजने लगती थी उसकी आंखों की किरण खिलखिलाते दांतों की कटक लरसती हुई सुर्ख जुबान की नमदार हरारत लंबी सफ़ेद उंगलियों की लहर जेल की मोम के अंदर बाल से ज़्यादा मुहिन शरियानों का जाल जो छाती के तनाव के साथ जेरो बम होता था ये एक एक जुज सिबट कर एक धमकते हुए मुंजमित लम्हे की सूरत नज़र के सामने आ रुकता था याद का लंगर भी क्या अजब शय थी कि ज़मानों की आमदो रफ्त को गोया मुट्ठी की जकड़ में बांध के रख देता था उसी नीम ख्वाब हालत में लेटे लेटे अचानक सरफराज को एहसास हुआ कि उसके आसपास मुकम्मल सन्नाटा था उसने आंखें खोल कर देखा तो कमरा खाली था वो उठ बैठा प्लेटफॉर्म पर पीर साहब और उनके बेटे अपने मुरीदों के हजूम में घिरे खड़े थे मुरीद एक दूसरे के अकब से निकल निकल कर पीर साहब के घुटनों और पाँव को छू रहे थे सरफराज ने हाथ बढ़ाकर कमरे की बत्ती बुझा दी कोचवान के छांटे के कड़ाके उसने सोचा और तांगे के पहियों का शोर शायर पी साहब के आने जाने की खड़खड़ाहट ही थी गार्ड ने सीटी दे दी रेल जो साकिन लेटी आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती हुई मालूम हो रही थी धुएं की फुनकार छोड़कर हरकत में आ गई और प्लेटफॉर्म के साथ साथ रेंगने लगी चंद मिनट में वो स्टेशन से निकल गई सरफराज खिसक कर खिड़की के पास हो बैठा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया खाना साहब आवाज़ आई सरफराज ने ऊंची आवाज़ से जवाब दिया नहीं अब बाहर रात की सरजमीन थी जहाँ कुछ दिखाई ना देता था कभी कभी किसी गांव के घर में जलती हुई आग या टैन की मध्यम सी रोशनी अंधेरे में एक लकीर खींचती हुई खिड़की को आर पार काटती और सेकंड के अंदर अकब की जानब में गायब हो जाती गुप्त अंधेरे में देखते हुए एक दूसरी तारीख खिड़की सरफराज की आंखों के आगे उभरती हुई नज़दीक आने लगी यह खिड़की गांव के एक मकान की थी जिसकी चौगाट पे हाथ रखे एक आठ साल बच्चा बभूत खड़ा बाहर काली रात को देख रहा था उसकी पुष्ट पर उसका अट्ठावन साल बाप चारपाई पे पड़ा अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों के बीच अटका हुआ था बाबा जी एजाज अपने बाप का हाथ थामे चारपाई के किनारे बैठा था आपकी उम्र बड़ी लंबी है ऐसी बातें ना करें मुझे दिलासा ना दें बूढ़े ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए मेरी बात ध्यान से सुन बाबा जी अल्लाह आपका साया हमारे सर पर हमेशा तेरी माँ तो सरफराज के पैदा होते ही अल्लाह को प्यारी हो गई अब वो तेरे पास तेरी माँ की अमानत है ज़मीन गहने रख कर तुझे पढ़ाया तेरा ब्याह किया पहले ज़मीन को छुड़वाना बाबा जी चार साल से नौकरी कर रहा हूँ पैसे जमा कर लिए हैं बस थोड़ी कसर रह गई है समझ लो कि ज़मीन छुट गई फिर सरफराज को पढ़ाना बाबा जी वो पढ़ रहा है बच्चा लायक है कर्ज़ा ले लेना सरफराज पढ़ लिख कर उतार देगा दुनिया के काम इसी तरह चलते हैं दादा का कर्ज़ा बाप के सर बाप का कर्ज़ा बेटे के सर हमारी उम्रें इसी तरह गुजरी हैं मगर अब तलीम का ज़माना है मेरे जैसे अनपढ़ को भी इस बात की खबर है तेरे ब्याह का कोई फल आ जाता तो मेरा सांस आसानी से निकल जाता मगर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसका ज़ोर है शुक्र कर कि भाई अहमद से कराबतदारी थी उसने अपनी सकीना तुझे दे दी वटे सटे का बंदोबस्त भी मेरे घर में नहीं था अल्लाह की मर्ज़ी से तेरी बहन ही कोई नहीं बाबा जी एजाज ने कहा सरफराज मेरा एक ही भाई है आप क्यों फिक्र करते हैं बूढ़े ने आके के इशारे से बेटे को नज़दीक आने को कहा ये बता सकीना उसे प्यार करती है आपको पता ही है नहीं सच्ची बात बता दिल से प्यार करती है बिल्कुल दिल से करती है अपने बच्चों की तरह जानती है अब आप सो जाएं, बोलने से कमज़ोरी हो जाती है बूढ़े ने हलक से खुश्क सी हंसी की आवाज़ पैदा की गो चेहरे की झुरियों में ज़रा बराबर हरकत ना हुई सरफराज कहाँ है उसने पूछा ये सामने खड़ा है रात हो गई है बूढ़े ने कहा और होले से आंखें बंद कर लीं सरफराज खिड़की से अब उसके कच्चे कमरे को देख रहा था जो सहन में बना हुआ था जब उसके बाप याकूब अवान की बारह एकड़ ज़मीन उसके कब्ज़े में हुआ करती थी उस ज़माने में इस कमरे के अंदर गेहूं और मकई की जिन्स तूड़ी और एक गाय रखी जाती थी सरफराज के जहन में सबसे पुरानी याद उस वक्त की थी जब वो अपने बाप के हिसाब से सिर्फ ढाई पौने तीन साल का था सुबह मुंह अंधेरे उसकी आंख खुली तो बाप और भाई की चारपाइयाँ खाली दिखाई दी थीं वो उठकर बाहर निकल गया था इस कमरे से लालटेन की रोशनी और बातों की आवाज़ें आ रही थीं बीच बीच में गायें अजीब तरह से टकरा रही थी जब बच्चे ने दरवाजे के अंदर कदम रखा तो अनोखा मंजर देखा एक आदमी ने जो उनके साथ वाले कमरे में रहता था गाय की पूंछ ऊपर उठा रखी थी पूंछ के ऐन नीचे गाय के जिसम से एक खिलौने का सा सर और दो नन्ही नन्ही टांगे बाहर निकली थी जिनमें हल्का सा एहतियाज था जैसे सर्दी से कांप रही हूँ सरफराज के बाप और भाई ने उस छोटे से बदन को चारों हाथों से उठा रखा था और होले हवा से उसे खींच रहे थे सरफराज गाय के मुंह से कुछ फासले पर जाकर रुक गया गाय होके भर भर कर टकरा रही थी और होके के साथ उसका सारा जिसम लरज रहा था सरफराज की नज़रें गाय के चेहरे पर थीं चेहरा उसी तरह था जैसे हर रोज़ हुआ करता था सिर्फ उसकी आंखों की सूरत मुख्तलिफ थी उन आँखों की दो शक्लें थीं एक शक्ल बेजुबान दहशत की थी दूसरी नरमी और बुलावे की थी पहली से सरफराज के दिल में खटका पैदा होता था और कदम पीछे को उठते थे दूसरी से उसका जी चाहता था कि आगे बढ़कर गाय के मुंह पर हाथ फेरे कमरे में इंसानी और हैवानी सांसों और खमीरे आटे की सी मिली जुली गरम मरतूब बू भरी थी जो सीने पे भारी बैठ रही थी सरफराज अपनी जगह पर खड़ा देर तक गाय के चेहरे को टिकटिकी बांधे देखता रहा यहाँ तक के जब उसने नज़र हटाई तो उसका बाप उस खिलौने को जो गाय का बछड़ा था गाय के मुंह के नीचे हिजे हाथों खड़ा कर रहा था और गाय की पूछ के साथ लंबा सा सुर गोश्त का लोथड़ा लटक रहा था बोसले रंग के बछड़े की टांगे उसके बोझ से बैठ बैठ जाती थीं और उसके बाल यूं चिपके हुए थे जैसे नहा कर आया हो गाय ने दो एक बार सर को इधर उधर झटके दिए जैसे रस्सी तुड़वाने की कोशिश कर रही हो फिर उसने होले से सर नहवाड़ कर बच्चे को ज़ुबान से चाटना शुरू कर दिया सरफराज को एजाज गोद में उठाकर कमरे से निकल गया उस वक्त इस कमरे के दरवाजे और खिड़की के पट हुआ करते थे जिन्हें कुंडी लगती थी अगले बरसों में ज़मीन गिरवी चली गई और एजाज की एफ़ए की तालीम मुकम्मल हुई फिर उसका ब्याह हुआ कुछ अरसे तक वो कमरा बंद रहा फिर बेदयानी की नज़र हो गया आंधी तूफान में कुंडियाँ टूट गईं किवाड़ खटाखट बजते रहे फिर उखड़ कर गिर पड़े आखिर में गाय भी बिक गई कमरा उजड़ गया आज भी जब आठ साल सरफराज अपने तई बचपने से निकलकर बड़ा हो चुका था और छः बरसों में इस कमरे की कई शक्लें गुजर चुकी थीं इसका एक ही नक्शा उसके जहन में मौजूद था बासी सांस और गाय की आलाइश की भारी भूखे अंदर जुड़ा हुआ गाय का दोलख चेहरा जिसकी आंखों से मौत की दहशत और प्यार की नरमी बयक वक्त झांक रही थी कुछ देर पहले उसने अपने बाप के चेहरे पर वही कैफियत देखी थी खिड़की में खड़े खड़े तारीख आसमान पर टिमटिमाते हुए तारों को देखते हुए सरफराज के अंदर अपनी पुरानी गाय के चेहरे की अनमिनट वीरानी का अक्स था जिसकी छाप ढाई साल की उम्र में उसके दिल पर पड़ चुकी थी घर के दरवाजे पे एक बैलगाड़ी आकर रुकी जिसके नीचे टैन लटक रही थी यह उसकी मासी का कुनबा था एजाज की बीवी सकीना के अलावा उनका एक बेटा जो सरफराज से एक साल बड़ा और सरफराज से दो बरस छोटी बेटी जमीला थी बच्चों के बाप चाचे अहमद ने लालटेन उतारकर हाथ में ली और बेटे अब्बास को बैलगाड़ी पर छोड़कर बीवी और बेटे के साथ घर के अंदर चला गया जब सरफराज की मासी उसका सर मुँह चूम चुकी तो वो चुपका जाकर जमीला के पास ज़मीन पर बैठ गया कुछ देर गुजरी तो वह जमीला को कोहनी मारकर सरगोशी में बोला चल बाहर चलें दोनों बच्चों ने घर वालों को देखा जो बूढ़े जान कुन की चारपाई के गिर्द जमा थे जमीन पर बैठे बैठे एड़ियों की मदद से दोनों ने इंच इंच दरवाजे की जाने फिसकना शुरू किया जब वो दरवाजे के पास पहुंच गए और फिर भी किसी ने उनकी तरफ ध्यान ना दिया तो वह दहलीज टाप कर बाहर सहन में निकल आए चल उस कमरे में चलें सरफराज ने कहा ना जी वहाँ तो जिन होते हैं कौन कहता है बासे ने बताया था जीलू तू डरपोक है चल मैं आगे आगे चलता हूँ जमीला सरफराज का हाथ थामे फूंक फूंक कर कदम रखती हुई उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई रात काली थी मगर तारों की लोह में बेपट की खिड़की का चौकटा मध्यम सा दिखाई दे रहा था जमीला मजबूती से सरफराज का हाथ पकड़े उसके साथ लगकर खड़ी खिड़की से आसमान को देख रही थी सरफराज जमीला ने कहा तू यहाँ आया करता है हाँ क्या करने कुछ भी नहीं तुझे डर नहीं लगता नहीं मुझे जिनों से डर लगता है तू कुरान मजीद पढ़ती है हाँ बीसवें पारे पर हूँ मैंने ख़त्म कर लिया है मौलवी जी कहते हैं जो कुरान मजीद ख़त्म कर ले उसे जिनों से डर नहीं लगता मेरे दस पारे रह गए हैं जमीला ने कहा वो देख सरफराज ने आसमान की जानब उंगली उठा कर कहा क्या सितारा कभी गायब हो जाता है कभी दिखाई देने लगता है आगे बादल आ गया है नहीं आंखें झपक रहा है सरफराज ने कहा मुझे पता है कैसे एक दिन मुझे सब कुछ पता चल जाएगा सरफराज ने सीना फुला कर कहा मैं किताब में पढ़ूंगा चलो चले जमीला ने कमरे में हवा की सरसराहट सुनकर मजीद करीब सिरकते हुए कहा कहाँ गड्ढे पर मैं नहीं जाता क्यों बासा मुझे मारता है अब्बा उसे अंधेरे में बिठाकर चला जाता है इसलिए गुस्सा करता है बेईमान है सरफराज ने कहा मारता है तो मेरे अब्बे को बताना तुझे डर लग रहा है हाँ जमीला बोली चल चलें घर के दरवाजे पर अब्बास अंधेरे में बैलगाड़ी पर उकड़ू बैठा था सरफराज और जमीला पिछले तख्ते पर हाथ जमाकर उचके और सवार होकर साथ साथ टांगे लटकाकर बैठ गए ओए सरफराज तेरा अब्बा मर गया है कि नहीं अब्बास ने पूछा अभी नहीं जमीला चुस्ती से बोली सांसें ले रहा है बैल ने सर झटका तो उसके गले में लटकी घंटी की आवाज़ आई सरफराजे टांग ना हिला डंगर बेकरार होता है मैं तो नहीं हिला रहा सरफराज ने जवाब दिया और तेरे फरिश्ते हिला रहे हैं चल उतर नीचे सरफराज छलांग लगाकर बैलगाड़ी से उतर गया गड्ढे के नीचे जाकर बैठ अब्बास ने हुक्म दिया मुझे डर लगता है सरफराज ने कहा तेरा डर निकालू आकर चल नीचे बैठ सरफराज चारों हाथ पाँव पे चलता हुआ बैलगाड़ी के नीचे घुस गया चल जीलू तू भी उतर अब्बास बोला बासे जमीला ने फरियाद की नीचे सांप है चल चल अभी तेरे सांप निकालता हूँ जमीला भी रींगती हुई जाकर सरफराज के पास बैठ गई अब्बास के डर के मारे सरफराज और जमीला बैलगाड़ी के नीचे उसके पहिए से पुश्त लगाए साथ साथ दुबके बैठे थे तारीकी इतनी थी कि एक दूसरे की शक्ल दिखाई ना देती थी सिर्फ सांस के उतार चढ़ाव से जमीला का बदन बार बार सरफराज के जिसम के साथ होले से दबता तो उसके अंदर एक खुशगवार हरारत का एहसास पैदा होता था बैलगाड़ी गली की चौड़ाई जितनी चौड़ी थी और फंसकर गली में दाखिल हुई थी आते जाते इक्का दुक्का लोग गली की दीवारों के साथ घिसटते हुए निकल रहे थे गली के बीच में बहती हुई नाली में बैल का एक खुर डूबा हुआ था जिसे वो बार बार पानी से बाहर निकालकर खुश्क ज़मीन पर रखने की कोशिश कर रहा था नाली के गंदे पानी की बू सरफराज और जमीला की नाक में चढ़ रही थी कुछ देर तक इसी तरह बैठे रहने के बाद जमीला ने सरफराज के कान में कुछ कहा मुझे डर लग रहा है तुझे हर वक्त डर लगता रहता है सरफराज ने कहा चुप करके बैठो ऊपर से अब्बास बोला नीचे उतरकर दोनों के दांत तोड़ दूंगा गाड़ी के नीचे दोनों फिर दुबक गए इसी खामोशी में जब काफ़ी देर गुजर गई तो सरफराज ने जमीला को कोहनी मारकर सरगोशी की चल अंदर चलें दोनों बेआवाज़ तौर पर रेंगते हुए दूसरे पहिए तक पहुँचे फिर वहाँ से निकलकर भाग खड़े हुए अंधेरे में दरवाजे की दहलीज से दोनों के पाँव को ठोकर लगी और वो ओंधे मुंह सहन में गिर पड़े मगर डर के मारे उनकी टांगें चलती रहीं वो कूद कर उठे और दौड़ते हुए सहन पार करके अंदर चले गए करीब सहरी का वक्त होगा जब शोर से सरफराज की आंख खुली वो चारपाई पे उठकर बैठ गया जमीला दूसरी चारपाई पर सो रही थी सरफराज चारपाई से उतरकर दरवाजे तक गया दूसरे कमरे में लालटेन की रोशनी के आगे उसकी मासी ज़मीन पर बैठी दोनों बाहें हवा में उठाए अजीब सी आवाज़ में बैन कर रही थी चारपाई पर जहाँ उसका बाप पिछले दो माह से दराज रहा था सिर्फ एक सफ़ेद खेस बिछा नज़र आ रहा था यूं लगता था जैसे चारपाई खाली हो गई है गो सरफराज को एहसास था कि उसके बाप का जिसम जो एक पुराने कपड़े की मानन सुखड़ कर रह गया था खेस के नीचे ढका पड़ा था सरफराज चलता हुआ जाकर कमरे में एक जानब खड़ा हो गया उसकी नज़रें मासी पर लगी थीं जिसके हाथ ऊपर उठे थे और जो चेहरा छत की जानब किए मुंह खोले आहो बका कर रही थी सरफराज यूं खड़ा था जैसे मासी के अंदाज से मशहूर हो चुका हो उसे ज़र्रा बराबर एहसास ना था कि मासी रो रही है मासी के चेहरे पे पसीने के बारीक कतरे चमक रहे थे मगर उसकी आंखें खुश्क थीं सरफराज वहाँ खड़ा इन हमाक से उसकी आवाज़ के जेरो बम में खोया हुआ था चाचा अहमद जो अब तक मुंह दूसरी जानब किए हुक्का गुड़गुड़ा रहा था जैसे उसका इस सारी कार्रवाई से कोई ताल्लुक ना हो और जिसे देखकर हमेशा सरफराज को एक बड़े भारी दरख्त का एहसास होता था अब कभी एक पाँव पे और कभी दूसरे पे अपने जिसम का बोझ सहारता हुआ दाएं से बाएं होले होले झूम रहा था इतने में मासी की नज़र बच्चे पे पड़ी जो टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था उसने बाजू गिराकर अपने आप को सकीना से जुदा किया जो उसके बदन से लिपटी हुई थी एक झटके से वो सीधी पाँव पे उठ खड़ी हुई और झपट कर सरफराज को बाहों में समेटने के बाद उसे सीने से लगाकर दूसरे कमरे को ले चली एजाज अपने बाप की चारपाई पर सर रखे बेहरकत बैठा था दूसरे कमरे में मासी सरफराज को उसकी चारपाई पर लिटाकर खुद उसके साथ लेट गई फिर वो सरफराज को अपने बाजुओं के हल्के में सीने से लगाकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकने लगी जैसे दर्द से कर्रा रही हो थोड़ी देर के बाद सरफराज को अपने गाल पे नमी के कतरे महसूस हुए उसने सर उठाकर देखा तो उसे यकीन ना आया उसने दोबारा देखा मासी चुपके चुपके रो रही थी उसकी आंखों से जो बहन करते हुए खुश्क थी अब सचमुच के आंसू रवा थे सरफराज ने अपनी माँ की शक्ल ना देखी थी उसकी मासी ने ही उसे पाला था जब वो तीन साल का हो गया तो उसका बाप उसे अपने पास ले आया था एजाज से ब्याह होकर सकीना की आमद के बाद वो दो दो तीन तीन हफ्ते आकर अपनी बेटी के पास ठहरने लगी थी सरफराज को वो वक्त याद आया जब एक बार चाचे अहमद ने झगड़ा करके मासी को घर से निकाल दिया था और मासी उनके घर आकर तीन महीने रही थी सरफराज उस वक्त छः साल का होगा गर्मियों के दिन थे एक रोज़ दोपहर को सरफराज अपने बाप के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो चारपहिए पर मासी को अपने बाप के बराबर लेटे हुए पाया सरफराज को देखते ही मासी हड़बड़ाकर उठ बैठी उजलत में वो अपना गिरेबान बंद करना भी भूल गई और जल्दी से सरफराज के बाप की टांगे दबाने लगी हाय भाई याकूब के बदन में दर्द उठ रहा है वो आंखें चुरा कर बोली शायद बुखार आने वाला है तू यहाँ क्या कर रहा है सरफराज उसका बाप गुस्से से बोला मेरा बदन टूट रहा है तेरी मासी से कहा है ज़रा दबा दे और किससे कहूँ तेरी माँ तो तुझे मेरे पेटे डालकर छोड़ कर चली गई जा दरवाज़ा बंद कर दे रोशनी से मेरी आंखों में टीसें उठ रही हैं जा अब घर वालों से अलग होकर अंधेरे कमरे में मासी आंसू बहा रही थी सरफराज को एहसास था कि उसका बाप मर चुका है मगर उसके दिल में रंज की कोई शक्ल पैदा ना हो रही थी उसके दिल की एक कैफियत थी जिससे वो शुरू उम्र से वाकिफ था मगर जिसकी खसलत उसके तई बेनाम ही रही थी एक ज़माना गुजर गया तो फिर जाकर उसे इल्म हुआ था कि यह कैफियत एक ऐसी ख्वाहिश के मुताबिक थी कि जैसे दूर दराज के ख्यालों के अंदर आस पास की चीज़ों के निशान लगाने की उम्मीद हो और बस उस वक्त मासी के साथ लेटे लेटे उसका जी घबराने लगा था सबसे अव्वल उसकी ख्वाहिश थी कि वो मासी के बाजुओं के हल्के से निकल कर उसके आंसुओं से दूर चला जाए जब वो मासी के जिसम से अलग होने में नाकाम रहा तो सिसकने लगा इसी हालत में कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई अचानक उसने अपने कंधे पर एक मानूस हाथ को महसूस किया वो उछलकर उठ पड़ा और एजाज के हाथों से चिमटकर उसके कंधे से लग गया काफ़ी मुद्दत पहले उसने एजाज की गोद में चढ़ना छोड़ दिया था अब वो इस तरह उसके सीने से चिमटा था जैसे आठ बरस का पट्ठा नहीं बल्कि घुटनों चलता बच्चा हो उसे इस सारे माहौल से अपने तारीख कमरे से दूसरे कमरे से जहाँ लाल टैन लटक रही थी और सफ़ेद खेस वाली चारपाई बिछी थी मासी की गरम गरम छातियों और उसके आंसुओं से डर महसूस हो रहा था एजाज के कंधे पर सर रखकर उसे एतबार आ गया कि अब किसी बात का खौफ दूर दूर तक भी फटकने वाला नहीं